बस आप अपना रुख इस सच्चे और सीधे दीन की तरफ ही रखें कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसका टल जाना अल्लाह ताला की तरफ से है ही नहीं उस दिन सब मुतफरक हो जाएंगे